an Osho talk. Prem Ganga, number one. जीवन सदा आगे की ओर है पीछे की ओर नहीं जो पीछे है उसका ही नाम मृत्यु है पीछे वो है जो मर चुका है आगे वो है जो जीवन में है पीछे की ओर जिनकी दृष्टि है वे मृत्यु को देखने में संलग्न हो जाते हैं और जो मृत्यु को देखते हैं वे धीरे धीरे मर जाए तो आश्चर्य नहीं जीवन का दर्शन आगे है वहां जहां अभी सूरज उगेगा वहां जहां फूल अभी खिलेंगे वहां जहां जीवन होगा वहां नहीं जहां पद चिन्ह रह गए हैं जहां हम कभी थे जहां कभी फूल खिले और जहां कभी सूरज निकला जहां अब रास्ते की ओर भी धूल रह गई है वहां जीवन नहीं है चाहे व्यक्ति हो और चाहे राष्ट्र पीछे की तरफ देखने वाले लोग धीरे धीरे जड़ हो जाते हैं भारत भी इसी भांति जड़ हो गया इसलिए पहली बात मैंने कही पीछे की तरफ देखने से मुक्ति चाहिए दूसरा सूत्र आज आपसे लेना चाहता हूं दिल्ली में पुरी के शंकराचार्य ठहरे हुए थे एक सुबह एक सज्जन उनके दर्शन हो गए और दर्शन के बाद हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हमारी एक छोटी सी समिति है जहां हम ब्रह्म ज्ञान पर विचार करते हैं आप कृपा करें और हमारे बीच चल के हमें उद्बोधन दें शंकराचार्य ने नीचे से ऊपर तक उन्हें देखा और कहा कोट पतलून और टाई पहनकर ब्रह्म ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे तो हमारे ऋषि मुनि ना समझ थे जिन्होंने कोट पतलून और टाई नहीं पहनी वो व्यक्ति तो घबरा गए होंगे आसपास 10-20 और लोग बैठे होंगे इस देश में ना समझो की तो कोई कमी नहीं वे कहीं भी इकट्ठे हो जाते वे सब मुक्त भाव से प्रसन्न हुए होंगे कि शंकराचार्य ने कितनी अद्भुत ज्ञान की बात कही और तब शंकराचार्य ने कहा कि कृपा करके अपनी टोपी निकालिए टोपी के भीतर चोटी है या नहीं अगर चोटी नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता और बात यहीं तक नहीं रुकी जो अंतिम बात उन्होंने कही वो तो बहुत हैरानी की और ये अगर मैंने किसी और से सुनी होती तो शायद मैं विश्वास भी नहीं करता लेकिन कल्याण ने ये पूरी कथा छापी है और बड़ी प्रशंसा से छापी तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अंत में आप ये बताइए कि पेशाब खड़े होकर करते हैं कि बैठ के खड़े होकर पेशाब करने वालों को ब्रह्म ज्ञान की कोई उपलब्धि नहीं होती ये मुझे पहली बार पता चला कि ब्रह्म ज्ञान पाने में पेशाब करने के ढंग का भी संबंध है ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर भी हम विश्वास किए चले जाते हैं ऐसी मूर्तापूर्ण बातों को भी हम कहे चले जाते हैं ऐसी मूर्तापूर्ण बातों पर भी न संदेह पैदा होता न विचार पैदा होता न विद्रोह पैदा होता न हमारे मानस में कोई बगावत आती न कोई इंकार आता इससे क्यों समझा जाए क्या हमने सोचना बंद कर दिया निश्चित ही शायद हजारों वर्ष हुए तब से हमने सोचने का श्रम नहीं उठाया हम अंधे की तरह विश्वास करने वाली कौम हो गए और जो कौम आंख बंद करके विश्वास करने लगती है उस कौम का कोई विकास संभव नहीं होगा विकास का द्वार है विचार है आत्मघात की पद्धति है विश्वास मरना हो तो विश्वास करना बहुत उचित जीना हो तो विचार करना जरूरी है विचार और विश्वास के रास्ते विपरीत रास्ते और जो देश विश्वास के रास्ते पर चला जाता है बिलीफ के रास्ते पर चला जाता है जो कहता है हमें सोचने की जरूरत नहीं हमें तो श्रद्धा करने की जरूरत है हमें विवेक की जरूरत नहीं हमें तो विश्वास की जरूरत है हमें तो कोई मार्ग दिखाए हमें तो कोई बताए कि हम क्या माने और हम मान लेंगे ऐसी जिस देश की आत्मा हो जाए उस देश की आत्मा में जंग लग जाती उस देश की आत्मा में जहां विचार की चिंगारी नहीं जहां संदेह की आग नहीं जहां सोचने की क्षमता से इंकार कर दिया गया वहां कोई क्रांति कैसे हो सकती मैंने सुना है एक अद्भुत व्यक्ति हुआ उसका नाम था मुल्ला नसरुद्दीन उसकी जिंदगी की बहुत सी कहानियां हैं एक दिन सुबह सुबह वृक्ष पे चढ़ के वो कुलाड़ी से वृक्ष को काट रहा है और जिस शाखा पर बैठा है उसी शाखा को काट रहा है शाखा कट जाएगी तो नीचे गिरेगा जान खतरे में पड़ सकती है नीचे से निकलने वाले एक राहगीर ने ऊपर की तरफ आंख उठा के देखा कि ये पागल क्या कर रहा है और जब देखा कि गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी मुल्ला नसरुद्दीन जो कर रहा है तो उसने चिल्ला की कहा की हद हो गई अगर कोई मूड ऐसा करता होगा तो ठीक था तुम ये क्या कर रहे हो जिस शाखा पे बैठे हो उसी को काट रहे हो गिरोगे मर जाओ लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन तो अपने को बुद्धिमान मिलता है उसने कहा जाओ जाओ अपने रास्ते जो सलाह बिना मांगे दी जाती है वो सलाह कभी ली नहीं जाती और ये भी कहा तुमने मतलब मुझे बुद्धि बुद्धू समझा हुआ है मेरे पास अपनी बुद्धि है और वो लकड़ी से उस कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता आपके वो शाखा कट गई और मुद्दा जमीन पर गिरा गिरने को उसे ख्याल आया कि वो आदमी ठीक कहता था मैंने उसकी बात पर विश्वास न किया तो बहुत गलती की दौड़ के वो भागा और दूर जाके रास्ते को उस आदमी को पकड़ा उसके पैर छुए और क्षमा मांगी और काम उससे बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया उस आदमी ने कहा विश्वास का सवाल नहीं था तुमने विचार ही नहीं किया ये विश्वास का सवाल नहीं था कि तुम मुझ पर विश्वास करो ये सवाल था कि तुम विचार करो कि तुम जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो लेकिन तुमने विचार करने से इंकार कर दिया और अब तुम दूसरी भूल कर रहे हो कि अब तुम मेरे पैर पकड़ के मुझ पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे तब भी तुमने विचार नहीं किया था अब भी तुम विचार नहीं कर रहे हो लेकिन नसरुद्दीन ने कहा छोड़ो ये बातें अब तो मुझे मेरा गुरु मिल गया जिसने भविष्य की तक बात बता दी जिसने ये बता दिया कि तुम गिरोगे दरख्त से भविष्य को कौन जानता है लेकिन तुम भविष्य को भी जानते हो अब मैं इसलिए आया हूं तुमसे पूछने कि मेरी मौत कब होगी ये तुम बता दो क्योंकि तुम भविष्य को जान उस आदमी ने कहा मैं कोई तो भविष्य को जानने वाला नहीं और वो कोई भविष्य को जानने की बात न थी सीधी साफ थी कि जिस शाखा पर बैठ के कुल्हाड़ी चला रहे हो अगर उसी को काटोगे तो गिरोगे और चोट खाओगे लेकिन मुल्ला कैसे मानने वाला था उसने जोर से पैर पकड़ लिया और कहा कि जब तक मेरी मौत का न कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा माना ही नहीं तो उस आदमी ने गुस्से में कहा कि अभी मर जाओगे जाओ वो आदमी तो चला गया मुल्ला ने सोचा कि ये आदमी तो जो भी कहता है ठीक ही कहता है वो उसी वक्त गिर गया और मर गया आसपास से लोग आए उसको उठा के उसके अर्थी को मरघट की तरफ ले जाने लगे लेकिन बीच में एक रास्ता आता था दो राह जहां से एक रास्ता पश्चिम एक पूरब की तरफ से जाता था अर्थी को ले जाने वाले लोग सोचने लगे पूरब से चले या पश्चिम से तो मरघट की तरफ कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचाता है मुल्ला ने ऊपर से सिर उठाया आरती के और कहा कि मैं मर चुका हूं अगर मैं जिंदा होता तो तुम्हें बता देता रास्ता तो पूरब का जो है वही जल्दी पहुंचता जब मैं जिंदा था तो पूरब के रास्ते से ही जाता लेकिन अब चूंकि मैं मर चुका हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता लोगों ने उसकी अर्थी नीचे पटक दी और कहा कि तुम कैसे मूर्ख हो जब तुम बोल रहे हो तो तुम जिंदा हो उसने कहा ये कभी नहीं हो सकता मैंने अपने गुरु पर विश्वास कर लिया और मेरे गुरु कभी भूल नहीं करते कभी झूठ नहीं बोलते भविष्य की बातें बता देते उन्होंने कहा कि तुम अभी मर जाओ मैं मर गया अब मैं जिंदा नहीं हूं अब कोई लाख कहे मैं विश्वास नहीं छोड़ सकता मैं तो अपने गुरु के चरणों को पकड़े हुए उन्होंने जो कहा है इस मुल्ला नसरुद्दीन से हमें हंसी आती है लेकिन शायद हमें पता नहीं कि वो ये कहानी हम पर हंसने के लिए लिख गया है हम सबकी हालत ऐसी जीवन के तथ्यों को देखने की हमारी तैयारी नहीं वो आदमी जिंदा है वो आदमी बोल रहा है लेकिन वो कहता कि चूंकि मेरे गुरु ने कह दिया इसलिए मैं मर गया जीवन जीवंत होते हुए भी जीते हुए भी इस तथ्य पर देखने की उसकी तैयारी नहीं है लेकिन जो कहा गया है उसके विश्वास की तैयारी है हम भी जो है उसे नहीं देख रहे हैं जो कहा गया है और जो हमने विश्वास कर लिया है उसको ही देखे चले जा रहे हैं उसको ही दोहराए चले जा रहे हैं और कोई हमें लाभ बताए कि जिंदगी कुछ और है तो भी हम मानने को तैयार नहीं है हम सबको दिखाई पड़ती है कि चारों तरफ की जो जिंदगी है सच है यथार्थ है लेकिन हमारी किताबों में लिखा है कि बाहर का जो जगत है वो माया है इलूजन है हम वही दोहराए जा रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है और जगत चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ जगत अपने पूरे यथार्थ में मौजूद है लेकिन किताब में लिखा हुआ है कि जगत माया है और ब्रह्म सत्य है हम वही दोहराए चले जा रहे हैं ब्रह्म हमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा जगत हमें प्रतिपद दिखाई पड़ रहा जो दिखाई पड़ रहा है उसे इंकार कर तो रहे जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसकी गवाही भरे चले जा रहे आश्चर्यजनक है ये बात और इस फांसी का अंधापन लेकर अगर कोई कौम चलेगी तो उस कौम का कोई सुंदर भविष्य नहीं हो सकता न अतीत सुंदर था न वर्तमान सुंदर है और न भविष्य सुंदर हो सकता है जीवन कैसा है जीवन के सत्य कैसे हैं उन्हें वैसे ही देखना जरूरी है अगर उन्हें बदलना हो अगर किसी दिन ब्रह्म को भी खोजना हो तो जगत को माया कहते उसे नहीं खोज सकते हैं आप अगर ब्रह्म को भी खोजना हो तो जगत में जो सत्य है उसकी खोज करके ही उसे भी खोजा जा सकता है सत्य की खोज से ही अंततः हम सत्य तक पहुंच सकते हैं कल्पनाओं की घोषणाओं से और विश्वासों के अंबार लगा लेने कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन हम सब जो दिखाई पड़ता है उसे उसे मानने की हमारी उतनी तैयारी नहीं है जो हमें कहा गया है ये अंधापन दूसरा अवरोध है जो जीवन में क्रांति आने के मार्ग पर बाधा बन के खड़ा हो गया विश्वास से मुक्ति आवश्यक है और क्यों मुक्ति आवश्यक है ताकि विचार का प्रवाह ताकि विचार की प्रक्रिया ताकि विचार का जन्म हो सके विचार और विश्वास के संबंध में थोड़ी बातें समझ लेनी जरूरी विश्वास का अर्थ है अंधापन विश्वास का अर्थ है मैं नहीं दूसरा जो कह रहा है वो ठीक है विश्वास का अर्थ है अपने को इंकार करना और दूसरे को स्वीकार करना विश्वास का अर्थ है उस चुनौती को इंकार करना जिसने विचार का मौका दिया था विश्वास का अर्थ है समस्या खड़ी है सामने उसे न देखना समाधान बताया किसी ने उसे ही पकड़ के दोहराए चले जाने मैंने सुना जापान के छोटे से गांव में दो मंदिर थे एक पूरब का मंदिर था एक पश्चिम का मंदिर था दोनों मंदिरों में बहुत झगड़ा जैसा कि मंदिरों में झगड़ा होता है आज तक पृथ्वी पर ऐसा नहीं हो सका कि मंदिरों में झगड़ा ना हो मंदिर कभी भी मित्रता नहीं बना पाए मंदिरों के बीच कोई मैत्री नहीं है मंदिर दुश्मन है और मंदिरों की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ी क्योंकि जब जमीन पर मंदिर ही दुश्मन हो तो और कौन सी चीजें दोस्त हो सकती उन दोनों मंदिरों में भी भारी झगड़ा एक मंदिर का पुरोहित दूसरे मंदिर के पुरोहित को देखना भी पसंद नहीं करता उन दोनों पुरोहितों के पास जो छोटे बच्चे हैं दोनों पुरोहितों ने कह रखा है उन बच्चों से कि दूसरे मंदिर के बच्चे के साथ मत बोलना हम बोलचाल पर नहीं है हजारों साल से ये मंदिर आपस में नहीं बोलते जाते लेकिन बच्चे बच्चे छोटे बच्चों को बिगाड़ना इतना आसान नहीं बूढ़े बिगाड़ने की कोशिश भी करें तो भी काफी समय लग जाता है बच्चे कभी खेलते हुए दूसरे मंदिर के पास भी पहुंच जाते थे दोनों मंदिर के बच्चे कभी आपस में बात भी कर लेते थे एक दिन रास्ते पर पूरब के मंदिर का बच्चा जा रहा है बाजार की तरफ और पश्चिम के मंदिर के बच्चे ने पूछा कहां जा रहे हैं उस बच्चे ने कहा जा रहा हूं जहां हवाएं ले जाए दूसरा बच्चा ठगा खड़ा रह गया उसे कुछ सूझा नहीं उसने जाके अपने गुरु को कहा कि आज दूसरे मंदिर के बच्चे से मैं हार गया हूं मैंने पूछा था कहां जा रहा उसने कहा जहां हवाएं ले जाएं फिर मुझे कुछ भी ना सूझा उसने ऐसी कठिन बात कह दी उसके गुरु ने कहा यह बहुत बुरी बात है हम कभी उस मंदिर से हारे नहीं कल तुम फिर पूछना और जब वो कहे जहां हवाएं ले जाएं तो कहना कि अगर हवाएं ठहरी हों और चल न रही हों तो कहीं जाओगे कि नहीं ताकि तुम जीत के लौटो और वो हार के लौटो दूसरे दिन वो बच्चा जाके रास्ते के किनारे तैयार खड़ा हो गया अब तैयार आदमी कभी भी बुद्धिमान नहीं होते जो भी रेडीमेड है और जिनके दिमाग में सब तैयार है उनमें बुद्धि कभी नहीं होती बुद्धिमान आदमी के पास बुद्धि होती है तैयारी नहीं बुद्धि एक दर्पण है जिंदगी सवाल खड़ा करती है बुद्धि के पास उत्तर तैयार नहीं होता रखा हुआ नहीं होता कि निकाला और दे दिया बुद्धि समस्या का साक्षात्कार करती है और जवाब पैदा होता है उत्पन्न होता है तैयार नहीं होता वो बच्चा खड़ा हो गया रास्ते के किनारे और तैयार रखे है अपना उत्तर दूसरा बच्चा निकला उसने पूछा कहां जा रहे हो उस बच्चे ने कहा जहां पैर ले जाए अब बहुत मुसीबत होगी क्योंकि उत्तर की तैयारी थी कि जहां हवाएं ले जाए तो कह देंगे कि अगर हवाएं बंद हो तो क्या करोगे लेकिन ये तो नया ही सवाल था कि जहां पैर ले जाए अब क्या करेंगे बंधा हुआ उत्तर हमेशा नई समस्या के सामने हार जाता है समस्या रोज नहीं हो जाती उत्तर पुराना होता है उत्तर बेतुका हो जाता है उत्तर का कोई संगति नहीं रह जाती कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती वो लड़का फिर हार के वापस लौट आया अपने गुरु से कहा कि फिर हार गया बड़ी मुश्किल हो गई वो उस मंदिर का लड़का तो बहुत बेईमान है वो तो बदल गया कल तो कुछ कहता था आज कुछ कहता है उस पुजारी ने कहा उस मंदिर के लोग हमेशा से बेईमान रहे उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं वो हमेशा बदल जाते हैं सच तो यह है कि अगर बदलना बेईमानी है तो पूरी जिंदगी बेईमान है भगवान बेईमान और जो नहीं बदलते वे ईमानदार हैं अगर तो मरी हुई चीजें ही सिर्फ ईमानदार हो सकती हैं जीवन कभी ईमानदार नहीं हो लेकिन उस पुजारी ने कहा फिर तैयार करो उत्तर फिर भी उन्होंने सोचा कि तैयार उत्तर हमेशा हार जाते अब ठीक से तैयार रखो और जब वो कहे कि जहां पैर ले जाए तब कहना कि भगवान न करे कि कभी पैर लंगड़े हो जाएं अगर पैर टूट गए तो फिर क्या हो वो लड़का फिर उसका त्याग करके उसी रास्ते पर खड़ा हो गया फिर दूसरे दिन फिर उस मंदिर से वो युवक निकला उसने फिर पूछा है कहां जा रहे हो तैयार है उत्तर उसके पास आए लेकिन फिर बदलावट हो गई उस लड़के ने कहा जा रहा हूं बाजार साग सब्जी खरीदने जा रहा हूं वो तो बंधा हुआ उत्तर फिर वही रह गए हार फिर हो गई जीवन है सतत परिवर्तन जीवन है रोज नया और विश्वास सब पुराने कोई विश्वास नया नहीं विचार नया हो सकता है विश्वास कभी नया नहीं हो सकता न हिंदू का विश्वास नया हो सकता न मुसलमान का न जैन का नपारसी का नक्शे का किसी का विश्वास नया नहीं हो सकता क्योंकि विश्वास आता है अतीत से विश्वास आता है पीछे से विश्वास आता है किसी और से विश्वास है सीखा हुआ उत्तर विश्वास है रेडीमेड दिमाग और जिस आदमी के पास ऐसे तैयार उत्तर हैं वो आदमी जीवन समस्या का साक्षात्कार करने में असमर्थ हो जाता है समस्या होती है नई और हम अपने पुराने खजाने में खोज करते हैं कि लाएं उत्तर और हमें तो बड़ी परेशानी होती है जब हम पाते हैं कि इसके लिए तो कोई उत्तर नहीं तो या तो फिर हम अपने उत्तर के अनुकूल समस्या को सफल देने की कोशिश करते हैं उसमें भी हम हार जाएंगे और या फिर हम ठगे खड़े रह जाते हैं अपने समाधान को पकड़े और समस्या आगे बढ़ती चली जाती है और जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है इस देश में ऐसा पिछले तीन चार हजार वर्षों से निरंतर हुआ है हमारे पास बहुत समाधान है हमारे पास उत्तर की कमी नहीं है हमारे पास शास्त्रों की कमी नहीं है गुरुओं की कमी नहीं है हमें सब बातें बता दी गई हैं और हमारे साथ जो दुर्भाग्य है वो ये कि हमने सब बातें कंठस्थ कर ली हैं और हम उन्हीं बातों के आधार पर जिंदगी में जो भी समस्या खड़ी होती है उसको हल करने की कोशिश करते हैं हम विचार नहीं करते हम अपने विश्वास को सामने खड़ा कर लेते हैं और हमारा विश्वास कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि विश्वास बासा है समस्या ताजी और नहीं है बासे उत्तर नए प्रश्नों के लिए अर्थहीन नए प्रश्नों के लिए नए उत्तर चाहिए नए उत्तर कहां से आएंगे विश्वास कभी भी नए उत्तर नहीं दे सकता नए उत्तर के लिए चाहिए विचार और विचार का अर्थ है दूसरे पर निर्भर नहीं विचार सदा अपने पर निर्भर होता है विचार का अर्थ है स्वयं सोचना होगा स्वयं सोचना होगा और इतनी तेजी से सोचना होगा कि समस्या बदल ना जाए नहीं तो हम सोचते बैठे रहें और समस्या बदल जाए तो हम सोच के भी निकालेंगे तो किसी अर्थ का नहीं होगा मन ऐसा चाहिए कि इतना विचारपूर्ण सारे देश का सारे समाज का सारी समाज की प्रतिभा ऐसी चाहिए कि वो सोचने में त्वरित इंटेंस थिंकिंग हो कि चीजें बदल ना जाएं और हम देख पाए सुभाष बाबू के एक भाई थे चंद्र वो एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं कोई रात के तीन बजे होंगे बाथरूम में गए हैं हाथ मुंह धो रहे हैं नींद है जल्दी अगले स्टेशन उतरना है तैयारी करनी है घड़ी खोलकर रख दी है हाथ मुंह धोया है धक्का लगा घड़ी सरक गई और संडास से नीचे गिर गई कीमती घड़ी है किसी मित्र ने पश्चिम से भेजी है क्या करें चेन खींची एक मील गाड़ी आगे सड़क आई है कंडक्टर ने गार्ड ने कहा मुश्किल है अंधेरी रात में आपकी घड़ी को खोजना कैसे पता चलेगा कहां घड़ी है कहां गिरी है सरचंद चलने का पता चल जाएगा मैंने जलती हुई सिगरेट उसके पीछे ही डाल दी हवा चल रही है सिगरेट जल रही होगी और जहां सिगरेट पड़ी हो उसके एक फीट के आसपास के घेरे में ही घड़ी होनी चाहिए इससे ज्यादा फासला नहीं होगा आदमी दौड़ाया गया वो जल्दी सिगरेट के पास वो घड़ी पड़ी हुई मिल गई लोग पूछने लगे शरदचंद से तुमने कैसे ये पता लगाया कि जलती हुई सिगरेट पीछे डाल किस किताब में पढ़ा किस गुरु से पूछा ये कहां से सीखा उत्तर सरचन ने कहा मेरी आदत थी किसी से कुछ सीखने की नहीं जब सवाल खड़ा हो तब पूरे फ्रांस से उसका मुकाबला करना ले और अगर पूरे फ्रांस से किसी भी सवाल का मुकाबला किया जाए तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब ना हो और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अगर समस्याओं से संघर्ष करे तो उसकी प्रतिभा से उत्तराने शुरू ना हो जाए क्योंकि प्रत्येक प्रतिभा के गहरे में स्वयं परमात्मा बैठा है लेकिन हम तो कभी भीतर से पूछते ही नहीं हम तो पूछते हैं बाहर से हम तो पूछते हैं दूसरे से तो भीतर का परमात्मा तो सोया ही रह जाता है उसको जगने की तो जरूरत ही नहीं आती विश्वास करने वाले आदमी को मैं धार्मिक नहीं कहता क्योंकि जो आदमी विश्वास करता है उसके भीतर के परमात्मा को जगने का मौका ही नहीं मिलता मैं उस आदमी को धार्मिक कहता हूं जो विचार करता है और इतना तीव्र विचार करता है कि अपने सारे व्यक्तित्व को विचार की अग्नि में सारे व्यक्तित्व के साथ कूद पड़ता है पूछने के लिए उसका रोआ रोआ उसका कण कण उसके मन की सारी शक्ति सोचने लगती है तब ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो तब ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो आदमी जो पूछ सकता है वो आदमी उत्तर दे सकता है आदमी जिस बात को उलझा सकता है उसे आदमी सुलझा सकता है लेकिन विचार की प्रक्रिया से ये संभव है विश्वास की प्रक्रिया से नहीं असल में विश्वास सिर्फ विचार से बचने का उपाय है जो लोग विचार के श्रम से बचना चाहते हैं वे विश्वास कर लेते तो वे कहते हैं हम क्यों झंझट में पड़े जो जानता हो हम उसकी मान लें और तब तब वे जो स्वयं जान सकते थे उसका मौका ही कभी नहीं आएगा और ध्यान रहे हम जिन शक्तियों का उपयोग करते हैं वे विकसित होती हैं और जिनका हम उपयोग नहीं करते वे विकसित नहीं होती पंगु हो जाती है नष्ट हो जाती है एक दो वर्ष तक बैठ जाए और पैरों को मत चले फिर पैरों में लपुआ लग जाए एक दो वर्ष तक अंधेरे में बैठ जाए आंख बंद कर लें फिर आंखें रोशनी खो देंगी एक दो वर्ष तक हम जिस अंग का भी उपयोग नहीं करेंगे वही अंग व्यर्थ हो जाए और विचार की प्रक्रिया का ये देश हजारों साल से उपयोग नहीं कर रहा तो अगर हमारे विचार की क्षमता नष्ट हो गई हो तो आश्चर्य नहीं है और हम बचपन से बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप ये चाहते हैं कि विश्वास करें स्कूल में गुरु चाहता है विश्वास करें सारा समाज चाहता है विश्वास करें तो बच्चे के विचार करने की क्षमता को हम विकसित ही नहीं होने देते हम सब चाहते हैं कि विश्वास करो बाप अपने बेटे से कहता है हम जो कहते हैं वो ठीक हमारा अनुभव है हमारी उम्र हमने जाना है तुम अभी क्या जानते हो बाप ठोकता है उसके ऊपर कि जो हम कहते हैं वो ठीक क्योंकि मैं बाप हूं अब बाप होने से कोई बात कहीं ठीक हो बाप होने से किसी बात के ठीक होने का कोई भी संबंध नहीं लेकिन ठीक हो तो भी बाप का ठीक होना न ठीक होना उतना मूल्यवान नहीं है जितना मूल्यवान यह है कि आप बच्चे की विचार की प्रक्रिया को रोक रहे हैं आप उसे विश्वास करने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप उसको डरा रहे हैं धमका रहे हैं और बच्चा अगर मान लेगा आपकी बात तो इसलिए नहीं कि उसके विचार को जच गई इसलिए कि आप पिता हैं नुकसान पहुंचा सकते हैं भोजन रोक सकते हैं चांटा मार सकते हैं घर के बाहर निकाल सकते इन भयों के कारण वो आपकी बात मान लेगा तो उस बच्चे की जिंदगी में विचार तो बंद हो जाएगा भय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हम सब डरे हुए लोग हैं हम सोचते ही नहीं हम इतने डर गए हैं कि सोचने का सवाल ही नहीं अगर हमारे मन में सवाल उठे कि भगवान है तो हमें फौरन डर लगता है कि कहीं अगर हमने कहा नहीं है तो भगवान नाराज न हो जाए कहीं नरक न भेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लड़के अगर वैसे आप उनसे पूछिए तो बड़े विद्रोह की बातें करेंगे अगर वैसे आप उनसे पूछिए तो वो किसी पुरानी बात को मानने को राजी नहीं होंगे लेकिन परीक्षा के वक्त देखिए वो सब आस्तिक हो जाएंगे हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े बीएसटी पढ़ते हैं एमएससी के विद्यार्थी हैं हनुमान जी से कह रहे हैं कि नारियल चढ़ा देंगे फियर जहां भय पकड़ा और आप भी और हम सब जब स्वस्थ होते हैं कोई परेशानी नहीं होती भगवान भगवान की हम चिंता नहीं करते बीमारी आ जाए दुख आ जाए नौकरी छूट जाए और एकदम भगवान की याद आती है क्यों क्योंकि भगवान हमने विचारा थोड़ी है भगवान हमारे भीतर भय के साथ संयुक्त होकर बैठ गया हमने कुछ सोची नहीं है कभी हमारे भीतर तो फियर है भय जब भय पकड़ता है बस तब हम हाथ जोड़ने लगते हैं अभी पता चल जाए कि इंदौर के ऊपर बम गिरना है फिर देखिए मंदिरों मस्जिदों और चर्चों में कितनी भीड़ हो जाए अभी पता चल जाए कि बम गिरने वाला है आपके घुटने एकदम जमीन में मुड़ जाएंगे हाथ जुड़ जाएंगे आकाश की तरफ के बचाओ भगवान बचाओ मैंने सुना है एक फकीर एक नाव से यात्रा कर रहा है कोई दस बीस लोग थे नाव में सारे लोग दूर दूर से बहुत सा धन कमा के वापस लौटते थे व्यापारी थे कोई सोना लाया था कोई हीरे जवाहरात लाया बहुत कमाइयां थी सबके पास सब प्रतीक्षा में थे कब नाव जमीन से लग जाए एक आध दिन की देरी थी और जोर का तूफान आ गया रात है अंधेरी है तूफान है खतरनाक लहरें पानी की नाव के भीतर घुसने लगी है खतरा है बचना मुश्किल है वे सारे के सारे बीच के बीच लोग हाथ जोड़कर घुटने टेक कर अंधेरी रात में भगवान की तरफ हाथ बंद किए हाथ जोड़े बैठे और चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें बचाओ हे भगवान हमें बचाओ कोई कह रहा है कि मैं अपना सारा धन गरीबों में बांट दूंगा कोई कह रहा है मैं अपने महल को धर्मशाला बना दूंगा कोई कह रहा है मंदिर बना दूंगा कोई कह रहा है जो भी मैं कमा के लाया हूं सब जमीन पर अभी जाके बांट दूंगा लेकिन मेरे प्राण बचाओ उन सारे लोगों ने उस फकीर से भी कहा कि तुम भी प्रार्थना करो तुम तो फकीर हो सन्यासी हो तुम्हारी आवाज का ज्यादा ठीक से सुनाई पड़े भगवान को लेकिन वो फकीर बैठा हुआ हंसता रहा उसने प्रार्थना नहीं की जब वे सारे प्रार्थना कर रहे थे तभी वो फकीर एकदम से चिल्लाया कि सावधान कहीं भय के कारण आश्वासन मत दे देना कि सब दे देंगे मकान दे देंगे मंदिर बना देंगे क्योंकि जमीन दिखाई पड़ रही सूरज निकल रहा है वो सारे के सारे लोग जल्दी से हाथ कर छोड़ के खड़े हो गए भगवान खत्म वो वायदे खत्म वो सब अपना सामान बांधने लगे उन्होंने उस फकीर से कहा तुमने अच्छा बचा दिया हम तो बच गए नहीं तो हम कह ही दे रहे थे कि सब जिन्होंने कह दिया था वो भी कहने लगे कहने से क्या होता है जीवन के किसी शब्द से हमारा विचार का संबंध नहीं है जीवन का सारा का सारा जो हमारा व्यापार है वो सारा का सारा विश्वास पर और भय पर खड़ा हुआ है और ध्यान रहे विश्वास सदा भय पर खड़ा होता है निर्भय व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता विचार करता है फियरलेस अभय व्यक्ति जो डरता नहीं वो विचार करता है सिर्फ डर को कायर विश्वास करते विचार नहीं करते इसलिए जो कौम जितना विश्वास करती है उतनी कायर डरी हुई कौम होती चली जाती ये हिंदुस्तान एक हजार साल तक गुलाम रहा ऐसे ही नहीं इसके गुलामी के पीछे मानसिक कारण है ये कौम विश्वास करने वाली कौम और विश्वास करने वाली कौम भयभीत कौम है और भयभीत कौम को गुलाम बनाया जा सकता है असल में जो आदमी विश्वास करता है वो गुलाम होता ही है मेंटली मानसिक रूप से वो गुलाम हो एक मेंटल स्लेवरी होती है उसकी वो दूसरे का गुलाम हो ये देश आज मुक्त तो हो गया लेकिन इसकी मानसिक दास्ता नहीं खो गई इसकी मानसिक दास्ता अपनी जगह खड़ी और उस मानसिक दास्ता के कारण अपनी जगह खड़े और जिन बीजों से मानसिक दास्ता पैदा हुई थी उनको हम पानी सींच रहे हैं उनमें सबसे गहरा बीज है विश्वास का लेकिन हम तो ये कहते हैं कि विश्वास बड़ा ऊंचा गुण क्यों कहते हैं ये गुरु समझाते हैं कि विश्वास नहीं करोगे तो भटक जाओगे नेता समझाते हैं विश्वास करो धर्म समझाते हैं विश्वास करो सब समझाते हैं विश्वास करो तो मैं ये कौन सी उल्टी और गलत बात आपसे कह रहा हूं कि विश्वास नहीं विचार करो क्यों सारे लोग विश्वास के लिए कहते हैं कुछ कारण है सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आदमियों का शोषण करना हो तो उन्हें विश्वासी बनाना जरूरी चाहे वो शोषण राजनीतिक नेता करे चाहे धर्मगुरु करे चाहे कोई और करे जिनका भी शोषण करना हो उन्हें विश्वास के जहर से उनके दिमाग को फुला देना एकदम जरूरी है जो भी विश्वास करने लगता है वो किसी का भी गुलाम हो जाता है वो किसी भी तरह की गुलामी झेल सकता है हिंदुस्तान में करोड़ों वर्ष करोड़ों सूत्र हजारों वर्षों से गुलामी झेल रहे हैं लेकिन किसी सूत्र ने कोई बगावत नहीं की आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है ये इतने लंबे समय तक इतने हजारों वर्षों तक करोड़ों करोड़ों लोग जानवर की तरह जी रहे हैं न उन्होंने बगावत की न दूसरे लोगों को कोई बगावत सूझी कि कोई कहता कि नहीं ये सूत्रों के साथ जो हो रहा है अन्याय है कोई बगावत करता नहीं किसी को कोई ख्याल ही पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में हजारों वर्षों से करोड़ों स्त्रियां गुलामी की हालत में है लेकिन न स्त्रियों को कोई ख्याल न किसी पुरुष को कोई ख्याल है कि गुलामी पति कहलाता है स्वामी और पत्नी उसकी नीचे लिखती चिट्ठी में आपकी दासी और किसी को कोई फिक्र नहीं कि तब क्या हो और पत्नी समझती है कि बहुत सम्मान में लिख रही दासी और पतिदेव समझते हैं कि बहुत आदर की बात हो रही है ये ये खतरनाक बात है लेकिन गुलामी का विश्वास का हमारा भाव इतना गहरा और पुराना हो गया कि विचार की कोई किरण ही नहीं फूटती कि हम सोचें कि हम सोच के समझने की कोशिश करें अगर हम सोचेंगे तो क्रांति निश्चित हो जाएगी विचार विद्रोह है विचार विद्रोही है विचार के भीतर छिपी है क्रांति की किरण इसलिए जिन्हें भी शोषण करना है वे लोगों को समझाते हैं विश्वास करो विचार करने की कोई जरूरत नहीं और समाज का पूरा ढांचा शिक्षा संस्कृति सभ्यता धर्म सब मनुष्य को इस भांति ढालते हैं तो उसके भीतर विचार भर पैदा ना हो पाए बस वो विश्वासी बने और बड़ा होते होते उस जगह पहुंच जाए जहां भेड़ें होती हैं आदमी नहीं मैंने सुना है कि स्कूल में एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है और उन बच्चों से उसने पूछा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और बड़ी हैरानी हुई उस दिन क्योंकि एक बच्चा जो कभी भी जवाब नहीं देता था वो जोर से हाथ हिलाने लगा उस शिक्षक ने पूछा कि अगर एक बगीचे के भीतर बारह भेड़ें बंद हों और एक भेड़ छलांग लगा के बगीचे के बाहर हो जाए तो भीतर कितनी भेड़ें बचेंगी तो एक बच्चा जिसने कभी हाथ नहीं हिलाया जो कभी उत्तर नहीं देता था वो जोर से हाथ हिलाने लगा गुरु ने कहा आश्चर्य तू तो कभी उत्तर नहीं देता कितनी भेड़ा बचेंगी उस लड़के ने कहा एक भी नहीं बिल्कुल भी नहीं गुरु ने कहा पागल जवाब भी दिया तो ऐसा मैं पूछ रहा हूं बारह भेड़े हैं एक भेड़ छलांग लगा जाए तो कितनी बचेंगी वो कहने लगा बिल्कुल नहीं गुरु ने कहा आश्चर्य क्या तुझे गणित के अंक भी नहीं आते तू बारह का अर्थ भी नहीं समझता उस बच्चे ने कहा मैं सब समझता हूं लेकिन गणित मुझे चाहे कम आता हो मेरे घर में भेड़े हैं मैं भेड़ों को भली भांति जानता हूं अगर एक निकल गई तो सब निकल गए ये सवाल गणित का नहीं है उस बच्चे ने कहा ये सवाल भेड़ों के स्वभाव का है और मैं भेड़ों को भली भांति जानता हूं आप कहते हैं एक निकल गई फिर एक नहीं बचेगी और भेड़ों को गणित का कोई भी पता नहीं है कि गणित क्या होता है भेड़ का स्वभाव क्या है भेड़ का स्वभाव है विश्वास और आदमी के भीतर आदमियत तभी पैदा होती है जब वो विश्वास के ऊपर उठता है और विचार की किरणों को छूता है लेकिन आदमी को भेड़ बना के रखना जरूरी है अगर उसका शोषण करना और सारी दुनिया में शोषण चल रहा है हिंदू क्या है मुसलमान क्या है जैन क्या है ईसाई क्या है ये अलग अलग गुरुओं के द्वारा शोषित लोगों की जमाते हैं ये अलग अलग गुरुओं के शोषण के धंधे हैं ये अलग अलग दुकानें हैं जिन जिनका शोषण किया गया लेकिन एक बड़े मजे की बात ईसाई के सिद्धांत अलग है हिंदू के सिद्धांत अलग है मुसलमान के सिद्धांत अलग है सब मामलों में झगड़ा है लेकिन एक मामले में किसी का झगड़ा नहीं है इस मामले में किसी का झगड़ा नहीं है कि विश्वास करना चाहिए इस मामले में सब सहमत और सारे मामलों में झगड़े हैं ईश्वर कैसा है है या नहीं आत्मा कैसी है पुनर्जन्म होता है या नहीं मोक्ष है या नहीं इन सब मामलों में मतभेद हैं लेकिन विश्वास के मामले में सारे धर्म राजी हैं कि विश्वास करना चाहिए श्रद्धा करनी चाहिए बिलीफ और फेथ यही मूल आधार थोड़ा समझने जैसा है जिनका सब मामलों में झगड़ा है इस मामले में झगड़ा क्यों नहीं इस मामले में झगड़ा नहीं हो सकता ये ट्रेड सीक्रेट ये बुनियादी धंधे का सूत्र दुकानें अलग अलग हो सकती हैं लेकिन दुकानों को चलने का नियम एक ही होता है सब दुकानों के चलने का नियम एक होता है दुकानदारों में आपस में झगड़ा हो सकता है लेकिन धंधे के सूत्र एक होते धंधे के चलने की पटरी एक होती विश्वास सारे धर्म सिखा रहे हैं और इसलिए चार पांच हजार वर्षों से धर्मों का प्रभाव है लेकिन मनुष्य के जीवन में कोई प्रतिभा का मनुष्य के जीवन में कोई गरिमा का दर्शन नहीं होता और जितने लोग धार्मिक हो जाते हैं उतने उतने श्रीहीन उतना उनका व्यक्तित्व खो जाता है उतना वो गिर भी रख देते हैं किसी के पास अपना सब कुछ चारों तरफ गुरु बैठे हुए हैं दुकानें खोलकर और जो भी उनके चरण पकड़ लेते हैं और अपनी आत्मा को उनके चरणों में रख देते हैं उनको वो धार्मिक कहते हैं अपने को बेच देना और गिरवी रख देने वाले लोग धार्मिक हो जाते लेकिन ध्यान रहे इसीलिए जवान आदमी मुश्किल से धार्मिक होता है बूढ़े लोग धार्मिक हो पाते क्योंकि जवान आदमी को डराना जरा मुश्किल है बूढ़ा आदमी डरने लगता है मौत करीब देख के घबराने लगता है आंख पर थर्राने लगते लगता है कि पता नहीं मरने पे क्या होगा क्या नहीं होगा और तब इसीलिए मंदिरों में मस्जिदों में चर्चों में गुरुद्वारों में बूढ़े आदमियों की भीड़ दिखाई पड़ती वो जो बूढ़े आदमी दिखाई पड़ते हैं सारी दुनिया में चर्चों और मंदिरों में वो अकारण नहीं है उसका कारण है मरने के करीब पहुंच के आदमी भयभीत हो जाता है डरने लगता है डरने की वजह से मंदिर पहुंच जाता है कि पता नहीं अब किसी गुरु का चरण पकड़ लेना जरूरी है अब किसी पे विश्वास कर लेना जरूरी है अब हमसे नहीं हो सकेगा अब किसी के सहारे की जरूरत है अब मौत करीब आती है हाथ पैर कपने लगे हैं लेकिन अगर धर्म असली होगा तो बुढ़ापे में छुएगा ये हैरानी की बात अगर धर्म असली होगा तो जवानी में छुएगा बचपन में छुएगा लेकिन असली धर्म हो नहीं सका विश्वास वाला धर्म असली हो नहीं सकता विचार लेकिन विचार की प्रक्रिया थोड़ी दुरूह है जरूर विश्वास बहुत आसान है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता सिर्फ विश्वास कर लेना पर्याप्त विचार में हमें कुछ करना पड़ता है इतने जि, जि, इसलिए जितना आलसी आदमी हो जितना प्रमादी आदमी हो जितना काहिल और दुष्ट आदमी हो उतना ही विश्वास की तरफ चला जाएगा जितना हिम्मत का आदमी हो सक्रिय आदमी हो तेजस्वी हो उतना विचार की तरफ जाएगा विचार में हमें कुछ करना पड़ेगा मुझे कुछ करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा और सोचना खतरनाक है खतरनाक इसलिए है कि सोचना एक चिंता है एक एंजाइटी है सोचने का मतलब है जीवन के बड़े सवालों पर मुझे जवाब खोजने हैं मैं क्यों हूं मैं क्या हूं मैं कहां से हूं मैं कहां जा रहा हूं जीवन के बड़े बड़े अल्टीमेट चरम सवालों पर मुझे जवाब खोजने हैं प्राण घबराते हैं मुझ जैसा छोटा आदमी क्या कर सके ये अपने बस के बाहर बात मालूम पड़ती है कि मैं जान सकूं कि जीवन का अर्थ क्या है कि मैं जान सकूं कि जीवन क्यों है अस्तित्व का राज मुझे पता चल सके तो डर लगता है जिसको पता हो उसको मान लेना चाहिए मैं कैसे पता लगा पाऊंगा लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर कभी भी पता लगा पाएंगे तो आप ही पता लगा पाएंगे और कोई आपको बता नहीं सकता है ये जीवन का ज्ञान कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई और किसी दूसरे को दे दे ये ट्रांसफरेबल नहीं है हस्तांतरण ही नहीं है कि मैं आपको दे दूं आप किसी और को दे दें जीवन का राज और रहस्य स्वयं ही जानना पड़ता है जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है जीवन में जो भी सुंदर है श्रेष्ठ है सत्य है वो स्वयं ही खोजना पड़ता है स्वयं की ही खोज से वो मिलता है क्योंकि वो स्वयं के भीतर ही मौजूद है वो कहीं और नहीं है कि कोई और दे दे वो मेरे भीतर और मेरे भीतर जाने का रास्ता विश्वास नहीं है मेरे भीतर अपने भीतर जाने का रास्ता विचार है जब मैं विचार करूंगा तो मुझे भीतर जाना पड़ेगा जब मैं विश्वास करूंगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा अगर विश्वास करना हो तो महावीर के पीछे जाओ अगर विश्वास करना हो बुद्ध के पीछे जाओ अगर विश्वास करना हो तो राम को पकड़ो और अगर विचार करना हो तो अपने से गाय और कोई रास्ता नहीं विचार करना हो तो स्वयं के पास आओ विश्वास करना हो तो किसी दूसरे के पास जाओ विश्वास ले जाता है बाहर विचार ले जाता है भीतर विश्वास जोड़ देता है दूसरे से विचार जोड़ता है स्वयं से विश्वास है दूसरे के सहारे जीने की हिम्मत और विचार है अपने पैरों पर खड़े होने का साहस निश्चित ही विचार कर देता है अकेला विश्वास जोड़ देता है भीड़ से ये कभी आपने देखा विचारकों की भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी आपको विश्वासियों की भीड़ मिलेगी हमें विचारकों की भीड़ देखी है कभी विश्वासियों की भीड़ होती है हिंदुओं की भीड़ मुसलमानों की भीड़ सिखों की भीड़ जैनियों की भीड़ ये सब विश्वासियों की भीड़ कभी महावीर बुद्ध को भी सांस सांप देखा है आप हैरान होंगे जान के ये बात कि महावीर और बुद्ध दोनों एक ही समय में एक ही इलाके में पैदा हुए समसामी एक थे और ऐसा भी हुआ कि कभी एक ही गांव में भी ठहरे और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ही धर्मशाला के एक हिस्से में महावीर ठहरे और दूसरे हिस्से में बुद्ध ठहरे एक ही गांव से गुजरे एक ही गांव से गुजरे एक ही रास्तों से गुजरे 40 साल तक बिहार के छोटे से इलाके में दोनों रहे लेकिन दोनों का कोई मिलना नहीं हुआ दोनों का कोई सांस भी नहीं हुआ दोनों की कोई भीड़ भी नहीं बनी शायद लोग समझेंगे कैसे लोग थे आपस में मिले क्यों नहीं कोई जरूरत ना विचार करने वाले को किसी के सहारे और साथ की कोई जरूरत नहीं विश्वासी को बड़ी जरूरत है क्योंकि विश्वासी अपने को तो पाता है कमजोर सोचता है दूसरे के साथ हो जाए तो थोड़ी ताकत आ जाए तो विश्वासी भीड़ इकट्ठी करता है फिर वो भीड़ की संख्या में ताकत मानता है वो कहता है हिंदू हिंदुओं की इतनी इतने करोड़ संख्या है मुसलमान मुसलमानों की इतनी करोड़ संख्या है फलाने उनकी इतनी करोड़ संख्या है फिर विश्वासी संख्या बढ़ाने में लगते हैं अपनी अपनी संख्या बढ़ाओ कन्वर्ट करो हिंदू को ईसाई बनाओ ईसाई को आर्य समाजी बनाओ शक्लें बदलो तिलक बदलो आदमियों को इधर से उधर लाओ क्यों इतनी सब परेशानी ये इतना सर्कस फैलाने की क्या जरूरत है किसी को हिंदू को ईसाई बनाओ ईसाई को हिंदू करो चर्च वाले को मंदिर में लाओ मस्जिद वाले को यहां ले जाओ इस सब की क्या जरूरत इसकी जरूरत डरे हुए लोग हैं जितनी उनकी संख्या बढ़ जाती उतनी हिम्मत आती कि चलो हमारे साथ इतने ज्यादा लोग विचारवान आदमी अकेला पर्याप्त होता है उसे किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं विचारवान आदमी अकेला ही होता है सच तो यह है कि विचार जब वो करता है तो पाता है प्रत्येक व्यक्ति अकेला है अकेला ही है अकेला ही हो सकता है सांप भ्रम है सांप झूठ सांप कल्पना है एक एक व्यक्ति एक गहरे अर्थ में अकेला है अकेला जन्मता है अकेला मरता है अकेला जीता है जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों में सब हम अकेले कोई किसी के साथ भीतर नहीं जा सकता हम इतने लोग यहां बैठे हैं लेकिन सब अकेले बैठे हम इतने लोग यहां हैं लेकिन कौन किसके साथ जैसे जैसे विचार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति को अपने अकेले होने का बोध स्पष्ट होता है और जैसे जैसे व्यक्ति को अकेले मन का बोध होता है व्यक्ति भीतर की तरफ जाता है बाहर की तरफ नहीं क्योंकि बाहर की तरफ जाने का एक ही कारण है कि हम दूसरे को साथी खोज लें दूसरे को मित्र बना लें दूसरे को संगी बना लें दूसरे की तलाश में हम बाहर जाते हैं पति जाता है पत्नी की तलाश में बाहर पत्नी जाती है पति की तलाश में बाहर गुरु जाता है शिष्यों की तलाश में बाहर शिष्य जाते हैं गुरुओं की तलाश में बाहर लेकिन जिसे सत्य की तलाश में जाना है और स्वयं की तलाश में जाना है उसे अपने भीतर जाना होगा इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं इस देश की प्रतिभा को जो सबसे बड़ी जंग खा गई वो जंग खा गई इसलिए कि हमने विचार करने की विचार करने की जो महान क्षमता थी उसको खो के विश्वास करने के कचरे को पकड़ रखा है और तब एक एक आदमी के भीतर विचार का कुआ नहीं खोद पाता हम कुआ खोद ही नहीं पाते अपने भीतर कि जहां जल स्रोत है चेतना के वहां हम पहुंच जाए और ध्यान रहे जो खोदेगा वो पहुंचेगा जो नहीं खोदेगा वो बाहर खड़ा रह जाता अपने ही घर के बाहर खड़ा रह जाता और जब हम अपने ही बाहर खड़े रह जाते हैं तो हम सुपरफिल बनते हम बिल्कुल ही ऊपरी आदमी होते सच पूछा जाए हम सच्चे आदमी नहीं होते मैंने सुना है एक दार्शनिक एक खेत के पास से निकलता और उस खेत में एक झूठा आदमी खड़ा झूठा आदमी यानी लकड़ी के डंडे पर हंडी लगी थी कुर्ता पहने हुए ऐसे तो हम भी अपने को खोजें तो हंडी और कुर्ते और लकड़ी और डंडे के सिवाय बहुत कुछ नहीं मिलेगा लेकिन हम अपने को असली आदमी समझते हैं उसको नकली आदमी समझ लेते वो नकली आदमी खड़ा था खेत के पास और एक दार्शनिक वहां से निकलता था बहुत बार निकला था उसे बड़ी हैरानी होती थी कि ये नकली आदमी अकेला खड़ा खड़ा घबरा नहीं जाता धूप भी आती है तब भी खड़ा रहता है वर्षा आती तब भी खड़ा रहता है दिन भी रात भी अकेले ही खड़ा है ऊब जाता होगा घबरा जाता होगा उस दार्शनिक को दया आई उस दार्शनिक ने एक दिन जाकर उस नकली आदमी से पूछा कि मेरे मित्र अगर नाराज ना हो तो एक सवाल पूछूं और सवाल यह है कि वर्षा में देखता हूं तो तुम खड़े हो सर्दी में देखो तो तुम खड़े हो धूप आए तो तुम खड़े हो रात आए तो तुम खड़े हो अंधेरी तो उजेली तो तुम कभी उगते नहीं घबराते नहीं यहां खड़े खड़े नकली आदमी हंसने लगा उसने कहा बड़े पागल तुम्हें पता नहीं बिल्कुल उगता नहीं बड़ा मजा आता है उस दार्शनिक ने पूछा मजा क्या है उसने कहा मजा एक दूसरों को डराने का मजा है पशु पक्षियों को डराता रहता हूं चौबीस घंटे फुर्सत कहां है अपने को जानने की अपन अकेले दूसरों में उलझा रहता हूं कभी कौआ आ गया कभी लोमड़ी आ गई कभी कोई आ गया उन्हीं को भगाता रहता हूं उनको भगाने में इतना मजा आता है इतना उनको डराने में मजा आता है कि तबीयत बड़ी प्रसन्न रहती और फुर्सत किसे है अपने को जानने की उस नकली आदमी को पता ही नहीं कि लकड़ी के डंडों पर कुर्ता पहना होगा और हंडी खोपड़ी की जगह लगी हुई खोपड़ी जैसी चीज भीतर कुछ भी नहीं है सिर्फ हंडी लगी हुई लेकिन दूसरों से फुर्सत मिले तो वो अपनी तरफ जाए और वो कह रहा है कि मुझे इतना मजा आता है दूसरों को डराने में कि कौन फिक्र करे अपनी फुर्सत कहां है सो भी नहीं पाता रात दिन धंधा जारी है जब देखो तब भगाने के काम में लगा रहता है उस दार्शनिक ने सुना उसने कहा बात तो तुम ठीक कहते हो दूसरों को डराने में मजा तो हमको भी बहुत आता आखिर एक मिनिस्टर को क्या मजा आता है दूसरों को डराने का मजा एक राष्ट्रपति को क्या मजा आता है दूसरों को डराने का मजा एक धनपति को क्या मजा आता है पड़ोसियों को डराने का मजा मजा क्या है अगर मेरे पास बहुत बड़ा मकान है तो मजा क्या है मजा यह है कि जिनके पास छोटे मकान हो उनको मैं डरा पा रहा हूं अगर मैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाऊं तो मजा क्या है वो जिनको मैं नीचे छोड़ाया हूं सिंहासन को उनको मैं डरा पाता हूं सारी दुनिया में सारी दौड़ दूसरे को डराने की सारा मजा दूसरे को डराने का उस दार्शनिक ने कहा बात तो तुम ठीक ही कहते हो मजा तो हमको भी बहुत आता है दूसरों को डराने में वो नकली आदमी हंसने लगा उसने कहा जरूर आएगा आएगा ही सभी नकली आदमियों को दूसरों को डराने में मजा आएगा तुम सोचते हो कि मैं ही हंडी और डंडी पर लटका हुआ हूं जरा जाके अपने शरीर की जांच पड़ताल करना तो हड्डियां डंडियां मिलेंगी और खोपड़ी हंडी मिलेगी और कुर्ते पहने हुए दार्शनिक तो बहुत डर गया क्योंकि बात तो ये सच जब तक हम अपने भीतर नहीं गए तो हम हंडियों और डंडियों और कुर्थों से ज्यादा क्या है जब तक हम भीतर नहीं गए जब तक हमने उसे नहीं जाना जो ना हड्डी है ना मांस है न मज्जा है तब तक हम हड्डी और डंडी और हंडी और कुर्थों से ज्यादा क्या है लेकिन नहीं फुर्सत किसे सब दूसरे को डराने में लगे हेड मास्टर मास्टरों को डरा रहा है हेड क्लर्क छोटे क्लर्कों को डरा रहा स्कूल का गुरु कोई नहीं मिल रहा तो छोटे छोटे बच्चों को डरा रहा पति पत्नी को डरा रहा पत्नी मौका मिल जाए पति को डरा रही सब डरा रहे और इतना मजा आ रहा है कि सर्दी आए गर्मी आए परेश, परेशानी हो फुर्सत किसको है अपने को जानने की फुर्सत किसको है और इस दूसरे को हम डरा रहे हैं दूसरे हमें डरा रहे हैं और भीतर जाने का उपाय नहीं मालूम होता है विचार करेंगे तो भीतर जा सकते विश्वास करेंगे तो बाहर ही भटकते रह जाएंगे भीतर नहीं जा सकते इसलिए दूसरी बात आपसे कहता हूं विचार विचार का क्या अर्थ विचार का अर्थ है जीवन की किसी भी समस्या के संबंध में बंधे हुए पिटे पिटाए समाधानों को स्वीकार मत करना जीवन की समस्या खड़ी हो तो नग्न निर्विचार निरुत्तर बिना किसी समाधान के उस समस्या के सामने खड़ा हो जाए पूरी तरह उस समस्या को अपने प्राणों के दर्पण में बनने देना पूरी तरह उस समस्या को देखना जानना पहचानना उत्तर की जल्दी मत करना कि कोई बंधा हुआ उत्तर में दे दू एक छोटी सी समस्या हम ले लें तो ख्याल में आ जाए कि विचार करने में हम क्या करेंगे अब सबसे बड़ी समस्या क्या है आदमी के सामने वो ये है कि हम जान सकें कि हम कौन मैं कौन हूं कभी आपने सोचा बैठ के विचार किया कि मैं कौन हूं किया होगा शायद कभी तो पता चला होगा कि मैं फला फला नाम का आदमी फला फला का बेटा हूं तो पता चला होगा कि मैं फला फला गांव का तहसीलदार फला फला स्त्री का पति हूं तो पता चला होगा ये मेरा नाम है ये मेरा गांव है यही आप हैं यही आपका होना है किसी के बेटे किसी के बाप किसी के पति किसी पद पर किसी धन पर यही बस होना है इतने ही आप हैं अभी मेरे एक डॉक्टर एक मित्र वे ट्रेन से चलते थे कोई चार छह वर्ष पहले और दरवाजे पर खड़े थे भीड़ थी और गिर गए चलती गाड़ी सिर को कुछ चोट लगी जिंदा तो रहे कोई नुकसान न पहुंचा लेकिन स्मृति खो गई भूल गए खुद का नाम भूल गए बाप का नाम बचपन के मेरे साथी थे मैं उनको मिलने गया देखने गया मुझे आंख फाड़ फाड़ के देखने लगे पूछने लगे आप कौन कहां से आए बचपन से साथ रहे मैंने पूछा मुझे नहीं पहचाना तो उनके पिता ने कहा आपको पहचानने का सवाल ही कहा वो अपने को नहीं पहचाना वो खुद के नाम भूल गया चोट खा गए हैं स्मृति डगमगा गई है हैं तो पूरी तरह अब भी लेकिन वो जो रिकॉर्ड था स्मृति का वो जो टेप रिकॉर्डिंग थी भीतर स्मृति वो डमाडोल हो गई वो कुछ गई हम भी अपने को यही समझ रहे हैं ये याददाश्त कि मेरा नाम क्या है यही हम हैं अगर नाम हमारा छीन लिया जाए तो हम खत्म हो जाएंगे अगर हम भूल जाएं कि हमारा घर कहां है तो हम खत्म हो जाएंगे स्वामी राम लौटे अमेरिका से और टहरी गढ़वाल के घर मेहमान हुए वो राजा उनसे सुबह सुबह मिला और पूछने लगा कि एक सवाल एक छोटा सा सवाल मुझे पूछना है बहुत लोगों से पूछा कोई जवाब नहीं देता और आपसे मैं जवाब चाहता हूं और फिजूल की बातें मुझे पसंद नहीं राम ने कहा मुझे खुद भी फिजूल की बातें पसंद नहीं आप जल्दी से पूछिए फिजूल की बातें क्यों कर रहे हैं सवाल पूछी उस राजा ने कहा सवाल मेरा यह है कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं मुझे मिला दे सकते राम ने कहा अभी मिलना है कि थोड़ी देर ठहर सकते तो राजा बहुत हैरान हुआ क्योंकि और भी लोगों से पूछा था तो कोई उपनिषद कोई गीता और न मालूम क्या क्या बकवास जारी करता था यह आदमी कैसा है न उपनिषद बोलता ना गीता बोलता है बोलता अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते ये तो मामले कुछ गड़बड़ उस राजा ने समझा कि शायद समझने में भूलोगे उसने कमा से तो शायद आप भूल गए मैं भगवान के लिए पूछ रहा हूं ऊपर वाले के लिए आप किसी आदमी की बात को नहीं समझ गए राम ने कहा कि अगर तुम आदमी की बात भी करते तो भी मैं भगवान की बात समझता मुझसे भूल होनी मुश्किल है मैं उसके सिवा किसी की बात समझते नहीं अब तुम फिजूल समय क्यों जाया कर रहे हो मैं तुमसे पूछता हूं अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुकते हो राजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि सवाल ऐसा आएगा अभी मिलना है अभी अभी आपसे कोई पूछने लगे अभी मिलते हैं तो आप भी कहेंगे कि कल मैं आके खोज के जवाब दूंगा कम से कम अपने बच्चों से पूछाऊं अपनी पत्नी से पूछूं अपने घर के लोगों से कि ईश्वर से मिल लूँ और पता नहीं ईश्वर से मिलना कैसा खतरनाक हो लौटना हो पाए या ना हो पाए तो ज्यादातर तो आप नहीं लौटेंगे आप सोचेंगे कि मरने के बाद ही मिलेंगे सभी लोग यही सोचे बैठे हैं मरने के पहले शायद ही कोई ईश्वर से मिलने को राजी हो वो तो मिलता नहीं है इसलिए हम मंदिर वगैरह चले जाते हैं अगर वो मिलता होता हम मंदिर से बच के निकलते डेंजरस खतरनाक है ईश्वर से मुलाकात क्योंकि ईश्वर से मुलाकात के बाद आप वही नहीं रह सकते हैं जो आप हैं ये कोई साधारण रिस्क साधारण जोखम नहीं है ईश्वर से मिलकर आप दूसरे आदमी हो जाएंगे ये वैसे ही है जैसे सोना निकल जाता है आप से फिर वो वही नहीं रह सकता जो था सब नकली जल जाएगा सब कचरा गल जाएगा ईश्वर का साक्षात्कार सत्य का साक्षात्कार आपसे गुजरना उस राजा ने कहा आप नहीं मानते तो ठीक है अभी मिलवा दीजिए लेकिन कुछ डरा हुआ है स्वामी राम ने कहा डरते हैं क्या डरिए मत एक छोटा सा काम कर दीजिए एक कागज पे लिख दीजिए कि आप कौन तो मैं ईश्वर के पास पहुंचा दू नहीं तो वो मुझसे पूछेंगे कौन मिलना चाहता तो मैं क्या कहूंगा राजा ने कहा ये बिल्कुल ठीक है मुझसे भी कोई मिलता है तो मैं लिखवा के ले लेता हूं कि कौन राजा ने लिखा अपना नाम अपने महल का पता राम को दिया तो राम ने कहा इससे नहीं चलेगा ये सब झूठा पता ठिकाना राजा कहने लगा झूठा आप क्या बात करते मेरे महल में ठहरे मुझे अच्छी तरह जानते मैं ही मालिक हूं मैं ही राजा हूं मेरा ये नाम है राम ने कहा कि अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो तुम बदल जाओगे राजा ने कहा नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा नाम पर बदलेगा मैं तो मैं ही रहूंगा तो राम ने कहा एक बात तय हो गई कि नाम ऊपर से चिपकाया गया बदला जा सकता तुम वही रहोगे नाम के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेबलिंग एक डब्बे के ऊपर लेबल लगा राम किसी डब्बे पर कृष्ण किसी डब्बे पर कुछ और नाम का लेबल बदल दो तो डब्बे के भीतर का कंटेंट थोड़ी बदल जाएगा लेबल के बदलने भीतर तो जो है वो है तो राम ने कहा तुम तो तुम ही रहोगे नाम बदल जाएगा तो फिर नाम तुम नहीं हो और मैं तुमसे ये पूछता हूं आज महल तुम्हारे पास है कल सड़क के बेकारी हो जाओ तो तुम तुम ही रहोगे कि बदल जाओगे उस राजा ने सोचा और कहा कि मैं तो मैं ही रहूंगा अच्छे वस्त्र मेरे पास नहीं होंगे महल नहीं होगा भीख मांगूंगा राजा नहीं रहूंगा लेकिन मैं तो मैं ही रहूंगा मैं कैसे बदल जाऊंगा तो राम ने कहा फिर ये राजा होना भी नॉन इसेंशियल हुआ ये भी सिर्फ गैर महत्वपूर्ण हुआ ये भी सारभूत ना हुआ तुम क्या हो जो राजा के बदलने पर भी नहीं बदलोगे नाम के बदलने पर भी नहीं बदलोगे अभी तुम्हारी उम्र कम है कल बूढ़े हो जाओगे तब बदल जाओगे उस राजा ने कहा मैं बूढ़ा होकर भी यही रहूंगा जो जवान होकर हूं तो राम ने कहा फिर जवानी भी बेमानी है और बुढ़ापा भी बेमानी फिर तुम कौन हो वो जो नहीं बदलेगा वो जो सारी बदलाहट हो जाएगी फिर भी वही रहेगा जो है वो कौन हो उस राजा ने कहा तो मुश्किल में डाल दिया उसके बाबत तो मैंने कभी सोचा नहीं हमने भी नहीं सोचा किसी ने भी नहीं सोचा तो राम ने कहा तो फिर सोच के आओ क्योंकि मुझसे भगवान पूछेंगे कौन मिलना चाहता है तो मुझे झंझट में मत डालो मैं क्या कहूंगा कौन मिलना चाहता है तुम्हें खुद ही पता नहीं कि तुम कौन हो उस राजा ने कहा तब मैं सोच लू तो फिर आऊ वो राजा फिर नहीं गया वापिस क्योंकि सोचा नहीं होगा लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई सोच ले कि मैं कौन हूं तो उसे फिर किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जानते ही मैं कौन हूं आदमी भगवान के पास पहुंच जाता है ये द्वार है भीतर ये जो मैं इस द्वार को खुलते ही वो सब खुल जाता है जो परमात्मा हम सब परमात्मा के मंदिर के द्वार बंद द्वार हैं इसलिए बाहर खुल जाए तो भीतर लेकिन खुलेगा कैसे विचार की हमरे विचार की हथौड़ी चाहिए और विचार का मतलब क्या है क्या आप बैठ के सोचने लगे कि मेरा नाम यह है तो फिर व्यर्थ हो गई बात लेकिन एक और बात ध्यान में ले ले अगर आपने बैठ के ये भी सोचा कि मैं आत्मा हूं मैं परमात्मा हूं अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं मैं सच्चिदानंद हूं मैं शुद्ध बुद्ध हूं अगर ये भी सोचा तो भी मैं आपसे कहता हूं आप सोच नहीं रहे ये फिर बकवास जो आपने सीख लिए वही दौरा है ये सोचना नहीं ये आपने सुन रखा है किताब में पढ़ रखा है लिखा है हम ब्रह्मास्मी आप भी बैठ गए आंख बंद करके और कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूं ये आपको पता नहीं है और ना आप सोच रहे हैं ये भी सोचना नहीं है ये भी दौड़ाना है ये भी विश्वास है आपको कहां पता है कि आप ब्रह्म हैं और अगर पता ही हो जाए कि आप ब्रह्म हैं तो फिर दोहराने की क्या जरूरत रह जाएगी नहीं ये मत दोहराइए सिर्फ पूछिए अपने से कि मैं कौन हूं और अगर उत्तर मालूम नहीं है तो निरुत्तर पूछिए पूछिए अपने से मैं कौन हूं मत दोहराइए कि मैं कौन हूं मुझे पता नहीं पूछता हूं सिर्फ मैं कौन हूं भीतर पूछिए मैं कौन हूं मैं कौन हूं और कोई उत्तर मत दीजिए सिर्फ प्रश्न को खड़ा करिए और आप हैरान हो जाएंगे प्रश्न तीर की तरह भीतर घुसने लगेगा और एक दिन वहां पहुंच जाएगा जहां से उत्तर आता है कि मैं कौन वो उत्तर फिर सोचा हुआ फिर वो उत्तर विचारा हुआ फिर वो स्वयं के प्राणों से निकले स्वयं से आया हुआ होगा और तब वो जो उपनिषद के ऋषि कहते हैं वो जो महावीर कहते हैं वो जो बुद्ध कहते हैं जहां से उनके भीतर से आया था वहीं से आपके भीतर से भी आ जाए और वो उत्तर सोचा हुआ विचारा हुआ होगा और वो आपकी सारी प्रतिभा को जगा देगा और वो आपके भीतर अंधेरे में जैसे कोई दिया जल जाए कोई सूरज जल जाए वैसा प्रकाश कर देगा आपकी प्रतिभा में पहली दफ्तर गरिमा और गौरव प्रकट होगा आपकी प्रतिभा पहली तरह पहली बार जीवन का प्रकाशित बनेगी और वैसी प्रतिभा ही जीवन के सत्य की दिशा में और जीवन की क्रांति की दिशा में दूसरा कदम चाहे व्यक्ति चाहे समाज चाहे पूरी